और जो रातें इस तरह गुजारते हैं कि अपने परवरदिगार के आगे कभी सजदे में होते हैं और कभी कयाम में